अली हरदम हरदम कुबकू याली याली याली हरदम हरदम कुबकू याली याली याली सादिको बावफा मनम दम हमा दम अली अली हरदम हरदम कुबकू याली याली आशिक मुर्तजा मनम तम हमा तम अली अली हरदम हरदम है अकीदा मेरा यही है वजीफा मेरा यही सलवात पर मोहम्मद दुरूद पर मौला अली दुरूद पर मौला अली दुरूद पर मौला अली काश मेरा इश्क असर दिखलाए जिनसे है प्यार तुम्हें उनमें जगह मिल जाए मैं ये समझूंगा मैं ये समझूंगा मैं ये समझूंगा मुझे मिल गई मंजिल मौला आपके जानम अली अली जानम अली अली कसम अल्लाह की मेरा तो वजीफा है अली जानम अली अली जानम अली अली दिल की धड़कन में भी धक धक के धड़कता है अली जानम अली अली जानम अली अली तलब बखुदा तलब गूंजती हम फकीरों काली वालों का रास्ता क्या है अपने सरदार से नौकर का ये रिश्ता क्या है नौकरी छोड़ तू है डर की तो बचता क्या है जिसपे अल्लाह मेहर पाओ से मिलता है अली जानम अली अली जानम अली अली बोल अली बोल अली बोल अली बोल अली बोल अली बोल अली बोल अली बोल अली बोल अली बोल अली असदुल्ला الله ولي الله حياة الله علي أمير المؤمنين جانم علي علي جانم علي علي कितना जबरदस्त ये नारा है अली जब लगे नारा तो लगता है गरजता है अली सत्य के ये नाम ही ऐसा है अली बोल अली बोल अली बोल वजीफा है अली मुकद्दर है हमारा के हमारा है अली जानम अली अली जानम अली अली कसम अल्लाह की मेरा तो वजीफा है अली जानम अली अली जानम अली अली दिल की धड़कन में भी धक धक के धड़कता है अली जानम अली अली जानम अली अली बखुदा गूंजती है ये सदा अली अली अली अली मौला अली इश्क है दर का यकीन ये सिला दे अपने आशिक को ये दरवेश बना देता है आलम जात में एक रंग चढ़ा देता है फिर यही इश्क मोहम्मद से मिला देता है जो खुदा तक हमें ले जाए वो रास्ता है अली जानम अली अली जानम अली अली बोल अली बो अली बो बोल अली बो अली बो मुरली बोलली बोलली बोलली मुरली बोलली मुरली बोलली अली अली अली अली अली अली अली अली अली अली अली अली अली अली अली बोल अली बोल बोल अली बोल क्या खबर क्या खबर किसको पता कितना है अनमोल अली बेखबर अक्ल के मीजान पे मत तौल अली अपनी सांसों में वजीफों में तू बस बोल अली बैठ मौला के फकीरों में जरा बोल अली बोल अली बोल अली बोल अली बोल अली बोल अली बोल अली बोल अली बोल बोलली बोलली बोलली बोलली बोलली मैं जहाँ जाऊँ मेरे साथ ही रहता है अली मेरे घर में भी सवारी में भी होता है अली बात करता हूँ तो बातों में भी मिलता है अली मेरी तन्हाई की खामोशी को सुनता है अली मेरा ईमान है मेरा साथ हमेशा है अली जानम अली अली जानम अली अली कसम अल्लाह की मेरा तो वजीफा है अली जानम अली अली जानम अली अली दिल की धड़कन में भी धक धक के धड़कता है अली जानम अली अली जानम अली अली गूंजती है ये सदा अली अली अली अली मौला हर अली का ही सदा दीन के काम आया है खून अली का ही सरे कर वो बला वो हुसैन अकबर असगर वो अलम वाला है गूंजता आज भी जैनब का यही खुतबा है इब्न मर जाना ये सुन ले मेरा बाबा है अली जानम अली अली जानम अली अली बोल अली बो अली बोल अली बो अली बोल अली बोल अली बोल अली बोल अली बोल अली बोल अली जानम अली अली जानम अली अली अली आपको सदमों से गुजरता देखा अपने ही शहर में में तनहा देखा फातिमा जहरा को रोते ही हमेशा देखा वार तलवार का तुम पर सर सजदा देखा बाहुदा आज भी तुरबत में तड़पता है अली जानम अली अली जानम अली अली दूर बाहुदा गूंजती है ये सदा असदुल्ला अली अली अलीउल्ला अली अली अली अली अली अली अली अली अली शाह शरी तम अली पीर तरी खतम अली अकब हकी खतम अली नूर विलायतम अली प्रथम अली अली अली अली अली नाज हरम का भरम मस्ते करम इश्क मनो जानो दिलम और कलम शाह